और जो लोग अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ते हैं और नमाज कायम करते हैं तो बेशक हम इसलाह करने वालों का अज्र ज़ाया नहीं करते